शेर और चूहे की कहानी एक दफा का जिक्र है कि एक जंगल में एक शेर की बादशाह थी एक दिन शेर खाना खा के दरख्त के नीचे सो गया चूहे ने यह देखकर शेर के ऊपर खेलने का सोचा चूहे ने सोते हुए शेर के इर्द गिर्द उछलना कूदना शुरू कर दिया और उसकी दुम से खेलने लगा शेर गुस्से में गुर्राते हुए नींद से झाग गया उसने अपने बड़े से पंजे में चूहे को दबोच लिया चूहे ने बड़ी कोशिश की लेकिन छुड़ा न सका शेर ने चूहे को खाने के लिए बड़ा सा मुंह खोला और ये देखकर चूहा बहुत डर गया मुझे ना खाए बस इस बार मुझे माफ कर दे बरए करम मुझे जाने दे मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा और शायद एक दिन मैं आपके किसी काम आ सकूं? शेर चूहे की ये बात सुनकर इतना मुतासिर हुआ कि उसने अपने पंजों में से उसको फौरन छोड़ दिया शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया मैं आपके साथ कभी नहीं भूलूंगा तुम बहुत खुशकिस्मत हो मेरे दोस्त कि मैं अभी भूखा नहीं हूँ अब जाओ आइंदा मुझे तंग मत करना वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा कुछ दिनों के बाद शेर जंगल में घूम रहा था शिकारियों ने शेर को पकड़ने के लिए जाल बिछाया शिकारी दरख के पीछे छुप गए और शेर का इंतजार करने लगे जैसे ही वो जाल के करीब पहुंचा, उन्होंने रस्सियां खींचकर शेर को पकड़ लिया शेर घुराने और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा शिकारियों ने जाल को मजबूती से बांध दिया वो पिंजरा लेने वापस गांव गए जिसमें शेर को ले जा सके शेर जोर जोर से गुर्रा रहा था उसकी धाड़ चूहे और जंगल के तमाम जानवरों ने सुन ली लगता है बादशाह सलामत मुश्किल में है मुझे उनका एहसान चुकाना होगा वो जल्द ही शेर के पास पहुंच गया बादशाह सलामत घबराए नहीं मैं आपको आजाद कराऊंगा वो जाल पर चढ़ा और अपने तेज नोकीले दांतों से उसे काटना शुरू कर दिया आखिरकार उसने शेर को आजाद करा दिया शेर को एहसास हुआ कि एक छोटा सा चूहा भी आपकी मदद कर सकता है शुक्रिया शुक्रिया नन्हे चूहे तुमने जंगल के बादशाह की जान बचाई है आहा अब तुम आजाद हो और इस जंगल के शहजादे हो शुक्रिया बादशाह सलामत चले फिर मिलेंगे ओह कहाँ जा रहे हो क्या तुम मेरे साथ फिर से नहीं खेलोगे नन्हे चूहे ने उसकी पीठ पे उछलना कूदना और उसकी धुन के साथ खेलने लगा देर बाद शिकारी शेर को ले जाने के लिए बड़ा सा पिंजरा लाए इतने में शेर और चूहा शिकारियों के पीछे भागे शेर की जोर की धाड़ ने शिकारियों को डरा दिया और वो तुम दबा के भाग गए शेर और चूहा हमेशा के लिए अच्छे दोस्त बन गए